सहनावती सहनौ सह वीर्यम् करवाहम् तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ॐ वाम मनसी प्राज्ञ तद यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद छांद आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य परा निबोधत सुरस्य धारा निशिता गुरत्यया दुर्गम पथस्तो वदन्ति असब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथारथम् मृत्युमवन्भवत्यस अनात्मनन्तम् महतः

योग माने होता है उपाय संस्कृत भाषा में योग शब्द का कई चीजों को एक में मिला देने से योग होता है तो आयुर्वेद में ऐसा योग प्रसिद्ध है बोला अनेक जड़ी बूटियों को मिला करके एक दवा जो बनाते हैं ना तो उसको योग बोलते हैं आयुर्वेद में और शरीर के लिए हुआ और आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये कई प्रकार की क्रिया जो करते हैं ना इसको योग बोलते हैं अष्टांग योग द्रव्य समाहार रूप योग जो है बहुत से पदार्थों को एक में मिलाना ये शरीर के लिए आयुर्वेदिक योग है और कई प्रकार की क्रियाओं का जो योग मिलाते हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये मन के स्वास्थ्य के लिए योग है स्थिति आत्मनिष्ठा रूप योग का संपादन करने के लिए जो चित्त वृत्ति को निरुद्ध करते हैं शांत करते हैं वो निरोध योग है तो योग प्रक्रिया भेद से कई प्रकार का होता है वैसे तो हम लोग कर्म करते हैं परंतु तो वही कर्म जब अपने लिए न करें भगवान के लिए करें तो उसका नाम कर्मयोग हो जाता है स्वार्थ त्याग करके समस्ती रूप भगवान के लिए विराट की सेवा के लिए या गर्भ की सेवा के लिए या ईश्वर की सेवा के लिए जो हम कर्म करते हैं कर्मयोग है सबके हृदय मंदिर में विराजमान ईश्वर की सेवा के लिए करें तो उसका नाम भक्ति योग हो जाता है तो उसको पहचान करके अपने स्वरूप का जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए जब करते हैं तब उसका नाम ज्ञान योग हो जाता है इसके बहुत भेद होते हैं कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग विश्व की दृष्टि से कर्म योग तेजस की दृष्टि से भक्ति योग प्राग्ञ की दृष्टि से अष्टांग योग तूर्य की दृष्टि से ज्ञान योग और भगवत दृष्टि से जिसके अनेक समर्पण योग रा, राज योग राजा के राज योग महाराज योग कहते हैं पूर्ण योग महायोग लोगों ने आजकल बहुत सारे नाम रखे हुए हैं हठ योग लय योग मंत्र योग राज योग कुछ समय पहले योग शब्द के अर्थ की ओर लोगों का खिंचाव ज्यादा हो गया वही हाँ, योग बड़ी बढ़िया चीज है योग सीख लेंगे तो आसमान में उड़ेंगे हवाई जहाज का किराया नहीं देना पड़ेगा है? हाँ? योग सीख लेंगे तो पानी पर चलेंगे जहाज का किराया नहीं देना पड़ेगा अब बहुत तो कंजूस लोग भी इसमें शामिल हो गए अब बिना खाए पिए भी रह सकेंगे तो ये सब उपद्रव की बात है योग का इन सब बातों के साथ कोई खास संबंध नहीं है योग शब्द का अर्थ है अपने स्वरूप को जानने की युक्ति योगो युक्ति है योग माने युक्ति कौन सी युक्ति अपने आप को पहचानने की युक्ति उसका नाम है योग बोले अपने को तो अभी हम बक्का समझते हैं ऊंचे बैठ गए तो बक्का हो गए और कुर्सी पे बैठ गए श्रोता हो गए माने कान की प्रधानता से जो बैठा तो उसका नाम श्रोता और जो जीव की प्रधानता से बैठा उसका नाम बक्का ये देखो उपाधि को स्वीकार जब करते हैं तब बक्का श्रोता बनते हैं इसी तरह से और बहुत सी उपाधियां हैं जिनको स्वीकार करके हम वैसा वैसा बनते हैं गांव की उपाधि को स्वीकार करके हम जनता चलने वाले बनते हैं हाथ की उपाधि को स्वीकार करके हम आदाता पकड़ने वाले लेने वाले बनते हैं आंख की उपाधि को स्वीकार करके देखने वाले बनते हैं नाक की उपाधि को स्वीकार करके सुनने वाले बनते हैं जैसे कान की उपाधि से श्रोता वैसे नाक की उपाधि से घराता जीव की उपाधि से बचता पांव की उपाधि से गनता ये हमने उपाधियों के अनुसार अपना नाम रख छोड़ा है जैसे कोई अपना नाम रख ले गवर्नर है ना मिनिस्टर कलेक्टर तो ये उसका असली नाम थोड़ी है कदे में ये नाम हुआ ना मिनिस्टर नाम कदे न हुआ कलेक्टर नाम कदे न हुआ गवर्नर नाम कभी न हुआ असली उसका क्या नाम है तो बोले पद से अलग करके जो उसका नाम है कौन असली नाम होगा तो आपने भी अपने अपने ये पांव में बैठे तो जनता हो गए जीव में बैठे तो बक्ता हो गए कान में बैठे तो श्रोता हो गए ये तो सब उपाधि के कारण ये तो सब आपके खिताब हैं पदे ना आपके नाम है ऑफिस में गए तो बाबूजी हो गए और बेटे को गोद में उठाया तो पिताजी हो गए और पत्नी से प्यार करने लगे तो पति जी हो गए तो कोई पुत्र पति आपका नाम थोड़ी है वो आपकी पहचान थोड़ी है, है? हाँ? ये तो सब औपाधिक है इसी को वेदांति लोग कहते हैं औपाधिक तो यदि अपने आप को पहचानना हो तो ये सब पदे न जितने आपके नाम हैं पराए घर में बैठने से आपका नाम मेहमान बन गया पराए घर में बैठने से मेहमान नाम हुआ ना आपका असली नाम मेहमान है कि नहीं असली नाम तो आपका मेहमान नहीं है तो ये जो आंख में कान में नाक में जीभ में पाँव में हाथ में दिल में दिमाग में आप आके बैठ जाते हैं तो आपका नाम मेहमान हो जाता है आपका नाम जीव हो गया हो तो ये जो बैठने की जगहें हैं इनको जब एक बार छोड़ के मैंने अपने को इनसे अलग करके जब देखोगे कि तुम कौन हो तब तुम्हारी असलियत मालूम पड़ेगी कि तुम कौन हो इसलिए ये जो ये युक्ति बताई जा रही कि ये छेदवान से प्राज्ञा ये छेदवान मनसी मनसी जो वीर विकार है ना ये वेद में ऐसा होता है लोक में हृस्व विचार से काम चलता है बात मनसी छेद ये जो बोलना है ना इसको मन में शांत कर दो तो यहाँ बोलने का चलना करना देखना सुनना सब इंद्रियों का जो काम है उसको मन में लीन कर लो मन केवल मन के रूप से रहो इंद्रियों का व्यवहार बंद कर दो एक एक युक्ति देखो ये मन में बैठ जाओ तुम सोचने वाले हो मन रूप हो तुम ये हड्डी मांस चाम विष्ठा के शरीर में जो नाक का छेद है वो तुम नहीं हो जो हजारों छेद वाली जो जिह्वा है तो तुम नहीं हो तो तुम कान नहीं हो त्वचा नहीं हो तुम इनसे न्यारे हो बिना मन के इन इंद्रियों की कोई शक्ति कोई जरूरत नहीं है देखो श्रुति में ये बात आई अहम अन्य मना अभुगम ना पश्यम अन्य मना अभुगम ना श्रृणम मेरा मन दूसरी जगह चला गया था मैंने देखा नहीं श्रीमद भागवत में तो वर्णन है कि एक बढ़ी अपनी दुकान पर बैठ के बाण बना रहा था सुतार तो उसके सामने से जुलूस निकल गया राजा का और बाद में एक आदमी ने आके जब उससे पूछा वो मिस्त्री जी राजा की सवारी अभी यहाँ से सड़क पर निकल गई कि नहीं निकल गई उसने कहा भाई मेरा मन तो बाढ़ बनाने में लगा हुआ था मैंने आंख उठा के सड़क की ओर देखा नहीं तो आप क्या करेगी अगर मन दूसरी जगह हो नाक क्या करेगी अगर मन दूसरी जगह हो जीव क्या करेगी अगर मन दूसरी जगह हो जिस दिन कोई संसार घर में गड़बड़ होती है ना संसारी गड़बड़ भोजन करने बैठते हैं तो हलवा खाया कि चटनी खाई क्या सब्जी खाई क्या है पूछो क्या सब्जी खाई और भाई हमारा मन दूसरी जगह था सब्जी का पता ही नहीं चला तो इसका मतलब ये है कि ये इंद्रियां जो काम करते हैं वो मन से ही करते हैं और असल में मन ही संस्कार के अनुसार वासना के अनुसार इंद्रिय बन गया है और इंद्रिय ही वासना संस्कार के अनुसार विषय बन गई हैं हाँ मिथ्या ज्ञान विजृंभितम असलियत का ज्ञान नहीं होने से जैसे मन में मालूम पड़ता है ना कि मैं आंख के रूप देख रहा हूँ और नाक से गंध सूंघ रहा हूँ हाँ। तो सपने में गंध कौन बना है मन सपने में रूप कौन बना है का मन सपने में आंख नाक कौन बना है का मन सपने में शरीर कौन बना है का मन मन ही तो सपने में सब कुछ बना हुआ है तो भाई ये मन का खेल बड़ा प्रबल है विषयों से खेल का ख्याल छोड़कर इंद्रियों का त्याग छोड़ करके मिथ्या ज्ञान विजृंभिता हाँ, ये बहुत इधर उधर की बात है छोड़ करके मनसी अच्छे मन में इसका निरोध करे उपसंहार करे केवल मनोमात्र होकर के रहे थोड़ी देर ये देखो कि मन के सिवाय और कुछ नहीं है ये बात कौन करेगा बोले प्राज्ञा ये मूर्ख का काम नहीं है मूर्ख जो है वो तो कहेगा कि विषय सत्य है इंद्रिय सत्य है इंद्रिय विषय का संजोग सत्य है तो आओ भाई इसी का मजा ले लेकिन जो प्रज्ञामान पुरुष है वो अंधेरे में भटकना स्वीकार नहीं करता अंधेरे में देखो हम तीस वर्ष पहले की एक बात आपको सुनाते हैं तीस नहीं पैंतीस वर्ष पहले की उससे भी पहले की चालीस वर्ष पहले हम अपनी माँ की दवा करते थे माँ को रोग था कोई पेट में तो डॉक्टर के पास जाते महीने भर हो गया डेढ़ महीने हो गया हम जाके दवा ले आते और हमारी माँ खाती वो दवा पीती और अच्छा होता नहीं डॉक्टर का ना बड़ा मशहूर डॉक्टर था बनारस का वो यूनिवर्सिटी का मेंबर भी था वहां से जो छोटी कमेटी होती डॉक्टर अटल बिहारी सेठ उसका नाम था कत्तरी था तो मैंने उससे पूछा कि इस रोज रोज तो दवा हर चौथे दिन तीसरे दिन तो दवा बदल देता मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है वो बोला कि देखो पंडित जी जैसे अंधेरे घर में चूहे इधर उधर घूम रहे हो और कोई फेंक है तो अब से तो फेंकते हैं कोई ढेला चूहे पर लग गया कोई नहीं लगा तो अभी निशाना हमारा बैठा नहीं है मैंने अभी तक ये बात समझ में आई नहीं कि ये रोग किस कारण से है कौन सी दवा दें तो ये ठीक होगा डेढ़ महीना दवा खाते हो गया डॉक्टर की समझ में नहीं आया अब वो डॉक्टर जब तक अंधेरे में रहेगा मैंने रोग का उसको निदान उसका कारण समझ में नहीं आया किस कारण से ये रोग है और उस कारण को मिटाने के लिए कौन सी दवा चाहिए तब तक वो डॉक्टर अंधेरे में भटक रहा है तो जो लोग रोग की असलियत जाने बिना दवा की असलियत जाने बिना चिकित्सा करते हैं उनकी चिकित्सा व्यर्थ जाती है यश कस्य करोड़ मूलम जेन केन चिदाहृतम जसमई कसमई प्रदातव्यम यदवा तदवा भविष्य है? चाहे जिस जड़ी चाहे जिस बूटी की जड़ उखाड़ के ले आए चाहे जो कोई उखाड़ के ले आया और चाहे जिस किसी को दे दिया और चाहे जो हो जाएगा है? तो ऐसे जो लोग अंधेरे में भटकते हैं परमार्थ के नाम पर जिन्हें न अपने स्वरूप का पता है न परमात्मा के स्वरूप का पता है न जगत के स्वरूप का पता है और ये दुख क्यों हो रहा है इसका पता नहीं है वे इस संसार रोग की औषधि इस संसार रोग की दवा नहीं कर सकते इसमें तो पहचान होनी पड़ेगी ये प्रपंच क्या है मैं कौन हूँ परमात्मा क्या है इनका परस्पर संबंध क्या है ये जो अपने में पापी पना आत्मा पना भागता है सो क्या है ये जो सुखी पना दुखी पना भागता है सो क्या है, है? ये विचार करके देखना पड़ेगा इस विचार को ही बोलते हैं यहाँ प्रज्ञा प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान का नाम है प्रज्ञा और प्रज्ञा अस्य अस्थि पद्धत में जिसके पास प्रज्ञा हो उसको प्राज्ञ बोलते हैं प्राज्ञ इसके लिए प्राज्ञ शब्द प्रज्ञा प्रज्ञा अत्यासी मत्वर्थी प्रत्यय होने पर प्राज्ञ शब्द बनता है प्रज्ञावान जो पुरुष है जो अंधेरे में भटकना नहीं चाहता वो ये देखे कि इंद्रियों के बिना विषय की प्रतीति नहीं होती और मन हो गए तभी इंद्रियों को विषयों की प्रतीति होती है मन न तो विषय नहीं मन न हो तो इंद्रिय नहीं मन न हो तो इनका संबंध नहीं इसलिए मनी राम जो है ये राजा है इन्हीं में संपूर्ण विषयों की प्रतीति का उपादान रखा हुआ है और संपूर्ण इंद्रियों की प्रतीति का उपादान भी मन में ही रखा हुआ है ऐसे सपने में न विषय है न इंद्रिय वहाँ न रथ है न पथ है परंतु ये मनीराम वहाँ रथ भी बना लेते हैं और पथ भी बना लेते हैं वहाँ न इसी है न अथ है लेकिन मनो मनीराम वहाँ इसी और रथ दोनों बना लेते हैं न पत्र रथा न रथ योगा न पंथा न उपनिषद कहते हैं वहाँ न रथ है न रथ योग है न पंथा है परंतु ये मनी राम सब बना लेते हैं तो जैसे सपने में बिना पथ का पथ है बिना रथ का रथ है बिना इति यथ का इति है, है? ऐसे ही जागृत में भी है मन को पकड़ो विषय और इंद्रियों की जो पकड़ है उसको छोड़ करके ढीली करके मन को पकड़ो असल में संसार में कुछ कोई भी व्यवहार बिना शब्द के नहीं होता व्यवहार शब्द उच्चारण इंद्रियों में बात मुख्य है दोनों तरह से मुख्य है मुख में रहती है इसलिए भी मुख्य है, है? और उसका प्रमुख स्थान है इसलिए भी मुख्य है ये बात ये वाणी तो देखो हम किसी भी बात को जब सोचते हैं ना नाम न मालूम हो हमको ऐसे गिनना हो क्या भाई चौथी लाइन ऐसे कर देंगे चौथी लाइन तो चौथी लाइन में दूसरा आदमी ऐसे अपने मन में सोचेंगे तो ये चौथी लाइन मन ने बनाई नाम उसका रखा चौथी लाइन और उसमें चौथा आदमी है ना तो ये आदमी का नाम किसने रखा चौथा तो मन ने रखा ये आंख का काम नहीं है और ये चौथी लाइन चौथा आदमी मन में शब्द का उच्चारण हुआ तब ये भाव आया न सोचते प्रत्यय लोके यह शब्दानुगम आदृत मन ही मन हम सबका नाम रख के बोलते हैं किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं फूल का नाम हमने रखा तुलसी का पत्ता नाम हमने रखा आदमी का नाम हमने रखा औरत का नाम हमने रखा ये शत्रु है ये मित्र है ये नाम हमने रखा तो नाम मूलक सारा का सारा व्यवहार चल रहा है तो मन में बैठ जाओ मन में बैठ जाओ माने एक बार शब्द स्पर्श रूप रस तो गंध है ना और गमन और आदान और पुरुष पुरुषोत्सर्ग और दर्शन और स्पर्श और श्रवण इनकी क्रिया का परित्याग करके देखो तुम्हारे मनीराम क्या कर रहे हैं हाँ, मनीराम और विलक्षण है सब इंद्रियों का काम हाथ पांव नाक मुंह का काम बंद करके देखो तुम्हारे मनी राम कैसे तो देखोगे कि मनी राम जो पहले से जो बातें मालूम है ना उनके बारे में सोचने लगेंगे या कुछ आगे की सोचने लगेंगे हाँ। कल हमारे पास कई लोग बैठे थे तो देखा वो बात तो हमारी कर रहे लेकिन कुछ पिछली करते हैं कि पहले ये ये हुआ है ना तो? और कुछ अगली करते हैं कि आगे क्या क्या करना है और इस समय जो बैठे हैं उसकी कोई बात नहीं करते हैं इसी का नाम संसार दुनिया इसी का नाम है जो बीत गई सो तो लौटेगी नहीं और जो आने वाली है वो अपने हाथ में नहीं है, है? तो महाराज आप वहां जाते हैं तब ऐसे लगते हैं है ना और वहाँ बात करते हैं तो कितनी बढ़िया कितनी अच्छी बात है यहाँ क्या है यहाँ पेंशन साल कुछ नहीं है ना वर्तमान को तो शून्य कर दिया वर्तमान को शून्य कर दिया और भूत भविष्य में चले गए तो ये कैसे हुआ मन से तो हुआ ना मन में जो भविष्य की कल्पना है और भूत की स्मृति है उसमें उलझ गए तो ये कहाँ से आया समझ में भरा पड़ा है बिल्कुल अनजान वस्तु के बारे में कोई संकल्प कोई विकल्प चित्त में नहीं उठता है नितान्त अश्रुत और नितान्त अदृष्ट उसके बारे में तो मन कुछ सोचते ही नहीं तो देखो ये बुद्धि का विलास है जो मन में हमारे बातें आगे के लिए और पीछे के लिए आती हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं क्यों तो आगे की बात सोचते हैं तो हम बड़े बुद्धिमान हैं तो देखो पीछे का अनुभव हमने अपने पास रख हुआ है तो भाई ये मूल वस्तु को पकड़ने का तरीका नहीं है ये तो ऊपर जुपरी संचरण तो न बिंदे उसमर्थान हाँ। श्रुति ने कहा कि जैसे कोई ऊपर ऊपर घूम रहा हो परंतु धरती के नीचे क्या गड़ा हुआ है ये उसको मालूम न हो क्या बच्चा है धरती के नीचे अगर निधि अनंत निधि पाँव के नीचे रखी हो ऊपर ऊपर हम घूमे और उसको न पकड़ पावे तो इसी प्रकार हम बुद्धि में रखे हुए संस्कारों के अनुसार उन्हीं के द्वारा जैसे कोई भेड़ है हमारे जीवन को पहले के संस्कार हाक रहे हैं आगे की कल्पना हमारे पीछे के संस्कार बना रहे हैं कोई ऐसी चीज बताओ जो बिल्कुल अज्ञात हो गए और उसको पाने या छोड़ने का संकल्प तुम्हारे मन में आता हो अज्ञात वस्तु को छोड़ने का संकल्प कैसे होगा अज्ञात वस्तु को पाने का संकल्प कैसे होगा नितान्त अज्ञात को जो बिल्कुल जारी हुई नहीं है उसको पाने का संकल्प भी नहीं होगा और छोड़ने का संकल्प भी नहीं होगा जानी हुई बात के बारे में ही पाने छोड़ने का संकल्प होगा तो तब मन तो बुद्धि से अलावा कुछ हुआ ही नहीं है समझ में जो कुछ जानकारी है मुसलमान के मन में ये जानकारी भर दी गई कि अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है तो वो बुद्ध परस्त है काफिर है अरे भर दी गई है ऊपर से हाँ। तो वो नाराज मूर्ति की पूजा देख के ही नाराज तोड़ दे महाराज है ना पहले हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे हमको बचपन की याद है और डरते थे हम लोग हाँ। जब बनारस में दंगा हो जाता था जिन्ना साहब के जमाने में तो घर में से निकलते नहीं थे अब देखो उनके मन में ही तो ये जानकारी भर दी गई कि ये बहुत बुरी है और महाराज एक हिंदू के मन में ये जानकारी है कि तो साक्षात ईश्वर है तो ये क्या ईश्वर को पहचानने के बाद उसने कहा कि चालक राम ईश्वर नहीं और क्या हिंदू ने ईश्वर को पहचानने के बाद कहा कि चालक राम ईश्वर है ऐसी ऐसी जानकारी बुद्धि में भर गई तो बुद्धि को स्वच्छ करो स्वच्छ करो अपनी बुद्धि को निर्मल करो ये जो वासना के अनुसार है ना मूर्ति से द्वेष भर गया और वासना के अनुसार मूर्ति से राग भर गया ये राग द्वेष से रहित करके पक्षपात के दबाव से मुक्त करके अपनी बुद्धि को देखो तो मन को कैद ही नहीं करेगी यदि आप संस्कार से युक्त बुद्धि में है ना न देखो तो बुद्धि संस्कार से अलग करके बुद्धि को संस्कारों से अलग कर लो तो देखो कोई न संकल्प उठे और न कोई विकल्प उठे स्वच्छ कर लो अपनी बुद्धि को बुद्धि में निर्मलता यही है एक बार की बात है हमने किसी संत के साथ चिट्ठी लिखी कि हम थोड़े दिन आके दूसरे मतावलंबी थे तो हम आपके पास थोड़े दिन आकर के आपके मत का अध्ययन करना चाहते हैं हमको पहले बहुत याद था हो हमने सौ सवा सौ डेढ़ सौ तक जो पंथ है ना हिंदुस्तान में ये कबीर पंथ ये राधा स्वामी पंथ ये है ना प्रणामी पंथ ये है ना ये जो अलग अलग मतवाद हैं आचार्यों के भी और संतों के भी तो किसमें क्या मान्यता है ईश्वर के बारे में किसमें क्या साधना है ईश्वर के बारे में है? कौन सदगति कौन मानते हैं दुर्गति कौन मानते हैं साधन क्या मानते हैं ये सब हमने अध्ययन किया था हमको याद था सौ सवा सौ मतों का तो हमको बिल्कुल कंठस्थ था कि किस मत में क्या मानते हैं फगुन मतों का देखते हैं हाँ। उन मतों का देखते बैठ जैसा जिसके मन में बैठा देते हैं एक मत आया एक मतवादी आचार्य के पास हम गए आपको हाँ। तो पहले वो बता दें उनको लिखा कि हम आपके मत का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो बोले कि अब तक जो तुमने पढ़ा है सुना है सीखा है है ना सब पर पानी फेर के सबका संस्कार छोड़ के अगर हमारी बात सुनना चाहो तो आओ और नहीं तो अगर तुम्हें अपनी मान्यता की पुष्टि करवाने के लिए हमारे पास आना हो तो काय तो हमको तकलीफ देते हो और खुद तकलीफ उठाते हो तुम अपनी अज्ञान कृत मान्यता का ही संपोषण चाहते हो कि जो हम मानते हैं उसी को तुम कहो कि ठीक है नारायण तो मत आओ हमारे पास ऐसे दिखते हो तो एक जगह की बात सुनाते हैं एक प्रति एक संत के पास गए अब उनसे ईश्वर संबंधी बात हुई तो हमने तो ब्रह्म की चर्चा की वो हमारी सब बात उन्होंने बड़े प्रेम से बड़ी शांति से मुस्कुराते मुस्कुराते सुनी बोले कि हाँ तुम्हारी पहुंच ब्रह्म तत्व है ब्रह्म पर्यंत तुम्हारी पहुंच है लेकिन अब इसके ऊपर चलो तो मैंने कहा महाराज ब्रह्म के ऊपर कहा होता क्या होता है तो बोले ब्रह्म तो ये नाक के ऊपर दोनों भावों के बीच में ब्रह्म रहता है है अभी तो ये ब्रह्मांड मंडल की बात है इसके ऊपर तो है ना अभी भवर गुफा है इसके ऊपर अभी त्रिकुटी है इसके ऊपर बंकलाल है इसके ऊपर चाया सारा माया मंडल है का अभी तो तुम अभी तो तुम ब्रह्म में गिरे हुए हो है ना <coughs> आपको सुनाया इसलिए मैंने कहा कि महाराज आपने अपने बेटे का नाम ब्रह्म रखा है क्या है अरे हम तो ब्रह्म उसको कहते हैं जो संपूर्ण नाम रूप का अधिष्ठान है संपूर्ण कल्पनाओं का प्रकाशक है ये तुम्हारे बंकनाल और तुम्हारी त्रिकुटी और तुम्हारा श्याम तेल और ये तुम्हारी भवन गुफा और तुम्हारा माया मंडल जिसमें अध्यक्ष है उस देश काल वस्तु से परिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अद्वितीय तत्व को हम ब्रह्म बोलते हैं और तुम दोनों भोहों के बीच में रहने वाले किसी मांस के लोखड़े का नाम तुमने ब्रह्म रथ छोड़ा है तो ये तुम्हारा ज्ञान हुआ कि हमारा ज्ञान हुआ है ना <clears throat> इससे ऊपर इससे ऊपर माने क्या होता है एक बात आपको सुनाई तो ये किस लिए सुनाई जिसके मन में जैसी बात बैठा दी जाती है जिसकी बुद्धि जिस संस्कार से आक्रांत हो जाती है आकंदित हो जाती है वो उस संस्कार को छोड़ करके ऊपर जल्दी नहीं चलती ये बुद्धि का मन है बोला बुद्धि को बुद्धि को निर्मल बनाओ निर्मल बनाओ माने एक बार संपूर्ण विषयों और इंद्रियों का अपवाद करके ये जो मन में मैं ब्राह्मण मैं हिंदू मैं मनुष्य ये जो बैठा हुआ है ना इसको एक बार निकालो ये मन में बैठा हुआ है मैं पापी मैं पुण्यात्मा हाँ। मैं स्वर्ग नरक में जाने आने वाला जीव मैं गोलोक वैकुंठ में आने वाला आने जाने वाला जीव ये सब जो तुम्हारी बुद्धि में भरी हुई बातें हैं कहीं तो इनको एक बार निकालो न तुम ब्राह्मण हो न सन्यासी न हिंदू हो न मुसलमान न पापी हो न पुण्यात्मा न सुखी हो न दुखी एक बार अपनी बुद्धि को क्रांति काल में मानी हुई जो बातें हैं उनसे जुदा करो उन बातों का अपवाद कर दो अब हमने तो कहा कि तुम ब्रह्म हो तो तुमने पूछा कि महाराज मैं अगर ब्रह्म हूँ तो नरक की मान्यता की झूठी हो गई है ना अब मैं तो तुमसे करूं ब्रह्म की बात और तुम मुझसे करने लगो नरक स्वर्ग पुनर्जन्म की बात है तब ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई जब तक तुम अज्ञान में हो तब तक ये सब सच्चा है है ना ये तुम्हारे अज्ञान के अनुसार ये सब सच्चा है है ना जहाँ तुम बैठे हो सचमुच है ना तुम्हारे लिए अभी नरक ही स्वर्ग है अभी तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है तो महाराज हम ब्रह्म हो जाएंगे तो हमारे ब्राह्मण धर्म का निर्वाह कैसे होगा है ना तो भाई तुम ब्राह्मण धर्म का निर्वाह करो है ना ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण धर्म का विरोधी नहीं है ब्राह्मण धर्म करो चाहे है ना चाहे सन्यासी हो जाओ चाहे ब्राह्मण धर्म करो चाहे तुम्हें अगर ये डर लगता है कि हम ब्रह्म हो जाएंगे तो हमारा ब्राह्मण पना कहाँ जाएगा हिंदू पना कहाँ जाएगा हमारी राष्ट्रीयता हवा हो जाएगी ये राष्ट्रीयता है ना राष्ट्रीयता भारतीयता उड़ जाएगी आसमान में ब्रह्मांडीयता चली जाएगी जीव पना नहीं रहेगा ईश्वर पना भी तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो यदि डर लगता है सबसे ज्यादा जहाँ तुमको रहना है वहाँ बैठे रहो और यदि इन सब संस्कारों को छोड़ करके स्वच्छ बुद्धि के दुहरा ये जो अनजाने तुम्हारी तुम्हारा नाम जब किसी ने रखा करोड़ी मल महाराज अब करोड़ी मल को कोई गाली दे तो तुम अपने को गाली समझते हो करोड़ी दल को कोई तारीफ करे तो तुम अपनी तारीफ समझते हो तो तुम्हें मालूम है बचपन में तुम्हारा नाम करोड़ी मल कल्पित किया गया लक्खी मल भी रखा जा सकता था हजारी मल भी रखा जा सकता था छदानी मल भी रखा जा सकता था है? तुम्हारा नाम छदानी मल भी हो सकता था और करोड़ी मल भी हो सकता था पर एक कल्पना तुम्हारे नाम के साथ जोड़ गई उसी को तुम पकड़ करके उसी को तुम पकड़ करके बैठे हो तो ये सब में बिना विचार के बिना खोज के बिना अनुसंधान के बिना जिज्ञासा के जो मन बैठे हुए हैं उन मलों को दूर करके बुद्धि को निर्मल करो अपने ज्ञान को स्वच्छ बनाओ तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ज्ञान समष्टि के ज्ञान से एक है तद जक्षेत ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति अपने मन को ज्ञान आत्मा बुद्धि में मिला दो और ज्ञानात्मा बुद्धि को महति आत्मनि उस ज्ञान को महान आत्मा में ईश्वर के ज्ञान से हमारा ज्ञान जुड़ा नहीं है नारायण आपको ऐसा मालूम पड़ता है ना कि हमारी पूर्व दिशा में मेज पर बैठ करके वक्ता बोल रहा है, है ना? मालूम पड़ता है ना और हमारे पीछे भीत है ये मालूम पड़ता है आप बताओ क्या ईश्वर को भी यही मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्व दिशा में बच्चा है और बच्चा के पश्चिम दिशा में लोग हैं ईश्वर को ऐसा मालूम पड़ता है, है? अगर ईश्वर मालूम को ऐसा पड़े हमको जो पूरा पश्चिम मालूम पड़ता है ना यही अगर ईश्वर को मालूम पड़े तो क्या होगा ईश्वर के ज्ञान का बंटादार हो जाएगा तुम तो साढ़े तीन हाथ के शरीर बन के है ना हमारे पीछे भीत है हमारे सामने बटता है है ना हमारे दाहिने पुरुष है हमारे बाएं स्त्री है ऐसा तुमको मालूम पड़ता है क्या ईश्वर भी यही आप बैठ के सोच रहा होगा कि दाहिने हमारे औरत और बाएं मर्द हैं? अगर ईश्वर दोनों के बीच में जो रास्ता है इसमें खड़ा हो गए तब तो वो सोचेगा कि हमारे दाहिने पुरुष और बाएं औरत लेकिन ईश्वर अगर बीच में खड़ा न हो सब जगह हो गए तो ईश्वर को पूरा पश्चिम कैसे मालूम पड़ेगा अच्छा तो हिंदुस्तान में अगर ईश्वर गए तो इस समय ईश्वर के लिए दिन है ना है? और अमेरिका में गए ईश्वर तो उसके लिए रात है तो ईश्वर कहाँ रहता है हिंदुस्तान में कि अमेरिका में अच्छा तो इस समय ईश्वर के लिए रात है कि दिन है, है? ये देखो ज्ञानम आत्मनि महती हो है ना समस्त बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि को मिला दो है ना तुम एक देश में रहोगे तो दिन दूसरा होगा वहाँ और दूसरी जगह रात होगी और दूसरी जगह दिन होगा तो यहाँ रात होगी और तुम सर्व देश में रहोगे तो न दिन रात हाँ। दिन रात तो परछाई की वजह से होती है ना सूर्य जाड़ में चला जाता है चंद्रमा आड़ में चला जाता है एक धरती के हिसाब से दूसरी धरतियों में दूसरी होती है जरा महान ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को मिला दो है ना तुम्हारी रात बीत गई दिन आया और दिन बीत जाएगा रात आवेगी ईश्वर ईश्वर को सोने के लिए रात नहीं है और जागने के लिए दिन नहीं है महत्व की जरा दृष्टि से देखो महत आत्मा समष्टि बुद्धि महदात्मा माने समष्टि बुद्धि संपूर्ण देश संपूर्ण काल काल की भी संपूर्ण है ना देखो जो तुम्हारे दादा पर दादा मर गए उनके लिए तो तुम भविष्य में पैदा हुए हो ना और आगे जो तुम्हारे बेटे पैदा होंगे उनके लिए भूत में हो तो अपने नाती पनाती के लिए तुम भूत में हो और अपने दादा पर दादा के लिए भविष्य में हो तुम कहाँ हो भूत में हो कि भविष्य में हो नारायण अब बिना भी भूत भविष्य के वर्तमान तो होता नहीं अच्छा ईश्वर तुमको कहाँ समझता है भूत में समझता है कि वर्तमान में समझता है कि भविष्य में समझता है हम्म? अच्छा तुम्हारा यहाँ वजन डेढ़ मन है दो मन है ढाई मन है यहाँ और यहाँ से एक मील ऊपर जाने पर तुम्हारा वजन कितना है है ना फटाक पर ऐसे सब दो मील ऊपर जाने पर तुम्हारा वजन कितना है अच्छा तो तुम्हारी दृष्टि में यहाँ तुम्हारा वजन डेढ़ मन और आसमान में उड़ जाने पर एक खटाक ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारा वजन कितना है इसका पता लगाओ हाँ। अच्छा इसका पता लगाओ तुम्हारी उम्र पचास बरस साठ बरस सौ बरस तुम्हारी दृष्टि है ना ईश्वर की दृष्टि से क्या तुम्हारी उम्र पचास सौ साठ बरस कुछ है इतना पुराना है ईश्वर इतना पुराना है ईश्वर और इतने दिन तक रहने वाला है ईश्वर न कि उसमें एक एक जुए की जितनी उम्र होती है ना हम लोगों के बाल में उतनी तो सूरज की उम्र नहीं है और सूरज में एक जुए के बराबर धरती की उम्र नहीं है और धरती में एक जुए के बराबर मनुष्य की उम्र नहीं है तुम अपने को पचास बरस सौ वर्ष ये देखो ये बुद्धि में ये बैठ गई है बात बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि हम इतने लंबे चौड़े हम इतनी उम्र वाले हम इतने वजन वाले हम इतनी उम्र वाले हैं हाँ